पांचल में रहने वाला आपने बात सुना है चार सार रही शार बाबा शार पलमा नहीं लिगाड़ बाता हाँ विषा बाता तना एज विचार किक नर सुता किक नर जागे किक नर राम पोतिया मचा मचन पागे उड़ती मकीरी टांग भागे श्रावण बेसवार लागे बात की बात बात की कुरापात कैर को कोटो सारी सत्रह जिगम बसे तीन गांव दो सुनार एक बसे नहीं लिखे जिगम लादा तीन कुंबार दो ठोट रे घड़े नहीं जिका घड़ी तीन आंडे दो काची रेख बाकी नहीं जिका बना तीन चावल दो कल्डू री खीजो नहीं जिका बलाया तीन ब्राह्मणा रा दो रे काशना रे जिमे नहीं जिका ना दिए तीन गाया दो फनरा रे ब्यावे नहीं जिका ना बटिया तीन रुपया दो खोटा रे चले नहीं जी को बताया तीन सराफा ने तीन सराफा ने दो अंधार एक परखे नहीं जिका भाई तीन लाता दो टलगे रे लगी नहीं है बात की बात बात की कुरा बात कहर को करो शादी सत्रह तो आपने अर्ज करा एक मेरा समाज हो गया उज्जैन नगर शहर में एक लाख लाख रुपये गुजार रहा दलीचंद शेठ एक लड़को है तो एक देवता रूप दुनिया में पैदा और मनुष्य रूप धारण किया है तो उनने कहीं आदत पड़ गई कि बाजार में जावे बेली संख्या ने आप रो करें खर्चो करे हजारों रुपया रो खर्चो करे बापरी कमाई और आपरी पढ़ाई रे माए लाखों रुपया री अवस्था रे माए और बीस भर रियास्ता रे माए शहर हैंग रे माए राजा दुरादर ने पूछ बात करे कर्मधारी नखदारी लड़को शेर से पैदा हुआ एक दूसरे तो समाज होगो एक होटल ले मात्र खर्चो और शेष की तरफ हो रहा है बेली संगति बैठा है तो एक आदमी ऐसी दुनिया में खोफ रही खोफ रही आदमी रहे और उन बैठे ने उनने बात नहीं सुनाई कि इन शहर माए दरबार सवाए दूजी साई नहीं है तो उन बैठोड़े बात रहे एक गुस्सो मारियो क्यों के कौन साहब जो खर्चो कर रहा है आप ही कमाई है या बाप कमाई है जब पूछो कौन साहब के है तुम्हारे बाप कमाई जो बाप सपूत हुआ आप तो सपूत नहीं हुआ बाप सपूत हुआ जिद माया कमाई आप माया मोनो आप कमार माया मोड़ो जिद आप एक दुनिया में एक नाम है और निशान है और मजबूती और मनुष्य रूप धारे रो एक पवित्र आपने रिश्तर की गाड़ा बीस गरजाए और आनंद ले और पहुंच गया और सुबह आप रिबेली संख्या ने कह दिया कि मैं तो जिन छोड़ और परदेशा में कमाई करने वास्ते जाऊँ लार के हाथे हाल नोताल जाइए बाप रे एक ही लड़को माँ बाप रन छूट गयो आर थोड़ा मिन था बेली संख्या ने सबने कह समझाया अपना वो तो लड़को नहीं समझो राजा ने जार के हो गए राजा दुनिया में मारो लड़को कमाई करने वास्ते चाहे मारे गरीब कोई बात रही कमाई नहीं अरबों खरबों री माया पड़ी है अरे लाखों में तो लेखो है करोड़ों में तुम्हारे तो कलम चल रही है एक ही लड़को है मन कोई माया रो टोटो नहीं है और इनने इन जाडी जल गई सवाल रही तो आप इन्हें नौकरी में रख लो और आप री खिजमत माँ जो इन खर्चो वाला जो मैं दो ला और आपने पोसा वो तुन का दे दीजिए राजाओं हाँ, करो भर लियो जा लड़के ने कहो जब लड़के कहो कमाई खाओ बापरी तो मैं हमारे आप रही नहीं है नहीं પણ મને તો आई जी सीधा ही है कि मैं तो बापरी कमाई रो करो नहीं राखो तो बापरी ओनियार में नहीं रहो हमारी भुजोनी कमाई कर दुनिया मनुष्य रूप धारण करो नाम निशान प्रकट करो दुनिया में तो सुबह उठते ही रवाना वो राजा री नौकरी ना दे दियो है और बेली संगति बेला हुआ उन्हें मोकलावनी वास्ते उन टाइम में राजा बहुत जान कहो है लड़का परदेसा कमाई करने वास्ते जाओ मारे वास्ते कहीं लावेला तो राजा भोज ने जवाब दिया जो आप मिनसा पूर्ण में वही चीज में लाऊं लाख मैंने चार सार सारो शौक है जबते विद्या में नादाना पर चार बार सारो शौक है वो चार बातें सारी लेना आवनी के जरूर जो हुक्म लाओना अपना सज्जू करा वादा है और लेना वाला लड़को कमाई करने वास्ते चीन माँ चीनी राष्ट्र मुल्क मालिक ने ग्योठ है उठे आगे भी एक लखपति करोड़पति सेठ उन्हें चार बेटा है और दुकान और धंधो चल रो है शटो और धंधो चल रहे हो हजारों रुपयों की कमाई हो तो रही है उठे जा शाम के टाइम घर पूछो रात रहे हो और उन्हें खबर चार दी कि भाई आप कठे पधारे आप कौन हो कठे रहो तो मैं उज्जैन नगरी रहो दिल्ली जंजीर बैठा हूँ आगो कठे नौकरी मत जाओ तो अपने अठे रह जाओ वही सेठ रो घर है तो हाँ अच्छा, हंकारो दे दियो हंकारो देने के बाद अभी वादो हो मिनखो रे कूड़ा होता को नहीं हंकारो सही करता हंकारो दियो रात भर रहा सुबह उठता ही कौन साहब है जो वही सेठ लड़को लोटो ले बंदरे में गयो और निपट पाछो बोलियो दरवाजे पहुंचे उन टाइम एक लखी बिन जा रो लाख बार दे जो कोई हीरो पन्नोरी भरियोड़ी किस्तूरी री भरियोड़ी सामने घोड़ी चढ़ोड़ो और मिले हो कौन है भाई हूँ तो लखी बिन जा रो थारे कने कहीं है कि मारकन किस्तूरी री बाड़ दे मोल बेचे के तो आपने अर्ज करो हैंग बाड़त खरीद ली सवा लाख रुपये और मूंद रहो उन्हें हाथ में दे दियो शाही रो और बाड़त खरीद और चाव टाया उन टाइम में सेठिया लोग हैंग आया और आर मोला उनका लखी पिंड जाने पूछो कि भाई मारो तो नहीं है और तो माल तो है भारत मारी है और माल शेठ तो है शेर शाहजाद जान पूछो कि भाई हमारे उज्जैन नगरी में कोई किस्तूरी आई नहीं कई साल आया मैं तुम्हारे तो देश ले जाऊँ लाठे बेचोला ही नहीं तो गरजरे कोई आंख नहीं वे दुनिया हजारों रुपया करोड़ों उन्होंने नफेरा दे दिया है और सत्तर लाख रुपये और मुनाफा पोर्ट में कमा लियो है और किस्तूरी चौक डे उन गाँव रे शेषों ने बेच दी वो दे दिए गाँव मैं तो उन्होंने नौकर हूँ ठेला भराए भराए रुपयों की थैलियाँ हजार हजार रुपया पहली रोकड़िया की थैली होती वो थैलियाँ भराए और शेठ गिरी जावनी डुकी और वो शेठ पूछे किन्नी थैलियाँ कि जो आप राती मुन्नी में अठाए और रात रे है उन्हीं तरफ वहाँ कमाई आ रही है टूटे तो बात करते बेला लागे दिन जावते जीत नहीं लागे और चार छः महीना रह गया है तो उन वही काम सितर लाख दो लाख दस लाख बीस लाख तारीख की कमाई करनी सट्टा करना बैठ करना और कोई ना कोई दुकानदारी धंधो नहीं समझो चमीणा हुआ एक दिन जची के माता पिता रे दर्शन કર્યા और माता पिता ने रोता छोड़ा जो मिलन हमारा तो तैयारी करी उन टाइम में शेर साहब कहो कि कहीं कहूँ साहब आप जाने रो इरादो कि जो हमारी माता पिता से मिलना चाहूँ तो आप खर्ची वास्ते तो उन्होंने कम से कम हजार दो हजार तारीख को खर्चो है शेठ चार हजार रुपया ने दिया गया बेटा तारे खर्चो है फिर तने पाछो तारीख नौकरी बीजो हिसाब पाछा माता जी कने गयो सेठानी कने जा रखे हो जन सेठानी दो हज़ार रुपया सेठानी दे दिया मोटूड़ी बुझाई कने गयो दो हज़ार रुपया उन दे दिया यूँ कर चार लड़कार चार बहुआ कने फिरने से उन्हें आठ हज़ार रुपया वो हो गया चार हज़ार शेर साहब दे दिया बारह हज़ार दो दिया दो हज़ार सेठानी दे दिया चौदह हज़ार रुपया उन्हें कने खर्ची में हो गया घोड़ो चढ़ने वास्ते अरे रवाना हुओ और बात याद करी कि राजा भोज नगरी रो मालिक है और मौरबी मालिक है उनने माए मैंने चार सार बताया था वो लेना मारे बाजार रहे माए आखो दिन फिर सार नहीं मिले उन उन्हीं सेठी लड़की है जो को दासी गई बाजार रहे माए कोई चीज वस्तु लेने वास्ते दिठो पूछो कि आप अठे क्यों फिरो तो कि मारे चार साल लेना तो शेर साहब जो मोटोड़ी भगवारी है उनने कने कोकला शास्त्र की विद्या है कोकला शास्त्र में जो बावनो सार हुए वो आपने मिलेला चार सार उठे मिलेला कोई चार सार कोई चीज नहीं है चार सार तो एक बात है और सवाल रो एक अर्थ है तो पाछो पहुंचो मोटोड़ी बुझाई नहीं जा क्योंकि मारे चार साल लेना जो चार सार रे वास्ते उन्हें तुरजियो निकाल कागदरो और उन्हें माथे लिखे आगे जागता तो रहन सारा दुश्मना गुण सारा कुबार जाने मार सारा और जलना बमे एक सारा है मारा देवर चार सार है पांच लाख रुपये ऋण की कीमत है द्राव और आप ले जाओ तो उन पाँचों शेर साहब में तो पुरजे लेके उन खुदरी कमाई गणी पाँच लाख रुपया ला दिया लाख रुपया बुझाई उन्हें संभाला दे दिया और चार लाख रुपया आप रखा जन्म कर दिया और एक पुरजियों में तेरे चार बातें लेकर दे दी तो आगला सो धर्मरा लाडला सो पापरा धरकू जय धर्म थोड़े कने दिन पाचो अपने मुल्क रहे माए पंचो है आयो नगरी में बेली सिंह थी खुशी आयो ना हाली मुस्लिम चढ़दार चौबदार और बेली सिंह थी लाखों हाँ बहुत उन्नी बाट और देखता तो ही आया खुशी मनाई राजा भी आयो रेवान हुई राजा पूछे भी मारे कौन लायो सेठ कमर साहब क्यों के मैं आपरे वास्ते जो मंगाई वो चीज तैयार है ओ आपरे कागज कागज दियो राजा बाचियो जागता रहन सारा कुबार जाने ने दुश्मना ने गुण सारा कुबार जाने ने मार सारा और जना बमेक सारा चार बाता राजा पढ़ और इन्हें पांच लाख रुपया दे दिया राजा अपने कब्जे कर ली बाता और शहर में आइडूंडी फेर दे कोई पहरेदार पुलिस हो मुंशी कोई पौरो नहीं दे राजा भोज रात रो पौरो खुद दे जिनमें एक चिंपी जीती पुष जावेला राजा भोज खजना भरेला हुक्म दे दिए पहरेदार बंद हो गया रात रो राजा भोज फिरे सुख दुख री बात उन्हें हवा रो दिन कोई गरीबरी जड़ी बात हुए उन्होंने दुख काट दे तो फिर तो फिर तो आपने अर्ज करो महीना वर्तमान हो गया है महीना रे बाद रे माए एक दूसरे समाज हो गए रात्र समय में भूमका रे माए आप है जो को घोड़े रे पौरे रे माए फिरता फिरता पहुंचा है तो आधी आधी दुनिया रोवे है और आधी दुनिया से क्यों दूत लोग आप रे सुननी में आया आप उठे गया तो कोई देखने में कहीं नहीं और आवाज आवे भूमकार माए जावे तो कई भूत लोग छंबाए उठे जाए पहुंचे कौन भाई कि मैं तो बुतावली हाँ पर आधा रो राजा मतलब कि नगरी राजा है राजा बहुत चुतर है और उन्होंने दे विद्या नादान है माने आठे लगाया सर्ग और नरगरी पाल की है हमारी जो राजा जल में जन्म में सर्ग नरगरी पाल की हमारी पालटो खाए और मरे जन सर्ग नगरी नरगिरी पालटी पालको खाए आज काले बारह बजे राजा मर जावेला की कर मरेला राजा के राजा रे जो कमरे रे माए बीत है वो राग लाखों वर्ष हो गया उन्हें रेड़ो दे अपने रेवे नहीं चिमिट फाटे उन्हें माए नाग है उन नाग रे मोड़े राजा री मौत है लाखों चीजें ही करे तो राजा नहीं बन जाए और काले मर्जा वाला जे सरगाड़ा तो हसे और नरगाड़ा रवे इनो मतलब हो ठीक है राजा कहो क्यों नहीं अपने आठ फोर तो पहले ठा पड़ गयो मरने के बाद मरने से आठ फोर पहले ठा पड़ियो है राजा आयो गिरे गिरे आयर सार देखे कहा जाग तो रात रो रहने से आठ पोर मरने रो ठापे जावे जनो घनी सीधा इन तीसरक जाग दो रहने से मुंह जाग दो रही माला तो मैं नहीं फेरी अब इन लारे कोई लिखेड़ो है कि दुश्मन ने गुण सारा नाग मन मानो आस्था आवाज दुश्मन में घटो नहीं इन्हें गुण करो तो राजा हजारा मन धूल मंगा ली पानी छिड़का दियो गिलम बिछा दियो माथे लील छिड़का दिए अंतरा छिड़काव कर दिया है और चंपे मरवे केवड़ा ठाणा लान धर दिया उनने कने एक शराफ रो प्यालो रख दियो एक गोश्त रो प्यालो रख दियो एक दूध रो प्यालो रख दियो नागरा तीन ही खजे तीन ही रख दिया है अंतरों छिड़काव करता था और उन्होंने टाइम दिया दे तो दिन रो तो बारह बजे वो नाग आवे लाल बारह बजे टाइम रात नाग पीत में बारह निकलो सेंद्रू दुनिया देखने वास्ते आई राजा खुद पिलंग बिछाए और उन सड़क माथे सड़क बनाए गिली धूड़ी माथे बैठ गयो और नाग निकलियो नाग निकलता ही उन गिले मेरे माथे चढ़े तो यूँ हैं ठंडो हो गयो आगे चंपे मरवे केवड़े पेड़ों ने माए लपेट तो आगे बढ़ियो नाग तो उन्हें आगे एक दूध रो कटोरो नजर आया उन दूध पियो दूध पीने के बाद गोश्त खा दो गोश्त खाने और शराब पियो नाग दिवास अब भगवान रे घर जब मार के गए थारे मुंह में लिखियो रो भगवान रे घरों कलंक और थारे मुंह में मौत है राजा री खा तीन कटोरा दूध रहा तीन गोश्त रहा तीन शराफ रहा कटोरा पिया उनने बाद में ना उनने ना दे दियो शराब के मैंने दुनिया के अंदर ये सोचा है कि काले ने कुल मैनो बिगड़ छिड़ो ने खाए काले ने एक मैन या करे मारो खानदान नाटक खत्म कर मैं और काम नहीं करूँगा चाहे वो खत्म हो जाओ चाहे कुछ भी हो मैंने खत्म कर दे तो परवानी मैं राजा ने नहीं खाऊंगा मैंने राजा हमारे साथ गुण मैं मैंने साथ और नहीं करवा भगवान ने करो हुकुम हो थारी उम्र आधी दे तो रह सके राजा आधी उम्र दी उन नाग आपरी राजा ने राजा रो बंचा वो गयो तो राजा ने रानी ने कहो कि ते उन दिन मैंने पांच लाख रुपया दिया उन टाइम में थे मैंने पलियो तो मारो आज कोई काम नहीं है कि मारी दो मौत री घाटी बच गई एक तो मैंने आठ फोर पहली मौत रो पड़ गयो एक मैं दुश्मन नो गुण की उन वजह मैंने उन उम्र दे और बंचाए लियो है ए बात आप नहीं होती तो मैं आज थारो नहीं तुम्हारी नहीं रानी भी खुशी हुई जनता भी खुशी हुई बहुत खुशी मनाई राजा और तो इंद्र समाज हो गए राजा रो ससुर बीमार वो भी राजा नगर मालक और समाचार आयो रानी राजा संगत भी जो आप रहे पंद्रह सौ हजार आदमी हाथे ले पहुंचा और ससुराल सासरे रे माए जा बैठा और राजा री हालत थाकोड़ी ससुर देख सब गम हुआ और पूछो हाल बीजा आठ पर माए राजा खत्म हुआ राजा खत्म होते टाइम हाँ उठे बैठा और राजा भोज जंगल में जावे वन में निपट पाछो आवे तो अस्सी नीव सोबर स्थान में बूढ़ो डोकरो जिनी हालत देखता ही और पूछो कि तू कौन है भाई कि हूँ जम हाँ जो जीव जन दुनिया में जो खत्म करा आदमिया ने वो हाँ तो आप मने मिलियो डार कि आप तो मने परचो दोगे कहीं को परचो गया और माल दमा कई मन में चाहे कि जो आदमी मरे उन्हें अंत खाली देखने जाओ राजा भोज उन्हें कहो डोकरे ने उन्हें रुमाल दियो कि भी मरने के बाद मरने मरने टाइम तू ने कन्ने जाए रुमाल आंखें के देर बैठ जाइए जो को आपने जरूर नजर आ वेला जो हमने वेला गति हुआ वाला तो राजा बोझ अपने पहली पोज सुशरीर की गति देख ली तो रुमाल आंखें के दियो है तो एक राक्षस ऊपर माए जम आयो है कृतगुण खोटा किया राजा आप राकेश खुद ही कृतगुण खोटा किया उन वजह से रूप रमा एक जम आया उन्हें छाती अपने पर उन्हें छेड़ियो संचेड़ और उन्हें आंख खुली कोई ताई कहो भी બી वादो आगे राल भगवान रे गिरी ગીરી बोलियो कि भगवान अठे राखे तो તું है आगे ले जाओ तो તો है मन तो जाओ जेठी જેઠી નર્ગી નર્ગ હે भगवान फिर मैंने बोला और कहीं करेला नरक सड़ा कोई चीज तो भगवान रे की सजा है नहीं तो अठे मारे तो नर्क ही जाए कि नहीं नहीं इन अंश इन खोलियो रो आप आज वादो खत्म है वो अंशो बारह निकलो निकल और कहो कि एक मैं गीता रामायण की बात बताऊं किन ने जमने कहो क्यों कि जिससे नर खरीद खरीदता है वो दुश्मन होता है जिससे शरीर खरीदता है वो सजन होता है ये मेरा खोलिया दुश्मन है इसके मैं इक्कीस चूत मत तो वो अंशा उसको दिखाने के लिए है कि नक्शा बनाकर उसको इक्कीस जूत मारा और राजा को आशा आ गई नगरी का राजा था जिसका नाम राजा है जिसको पालन करता है वो राजा होता है ऐसा राजा नहीं होता है राजा नाम जलम दाल किया मनुष्य रूप आया और अभी भी ये जूता खाता था तो ये तो आगे तो सब जगह जूता ही खाए आशा आता ही और राजा आसन गया राजा भोज तो इतो हस्यो इतो हस्यो दुनिया रह राजा भोज ऐसे उन हजारोला अंतकाल हुए उन्हें ले जाए भूमिका में दाग दियो और पचा आया तो उन्होंने आवादर कियो बैठा रहा दूसरे दिन या तीसरे दिन उनने पड़ोस से माए गरीब आदमी हो वो भी चल गयो तो राजा बोझ वो रुमाल ने माए नक्शो देखने वास्ते उठे गयो करो उठे जाहिर बैठो तो उन री कोई हालत हुई और उन्हें आज जम मतलब जम कोई सूरत में आयो खब सूरत रे माए देख खुश हुए अड़ी सूरत रे माए आए और उन्हें हाजिर हुआ आ रही हो कि तेने मालिक गणार गणा सलाम दिया है थारे इन खोलिए रो अंशो पलट लो वादो आ गयो तो ऐसी हो कि भी भगवान मैंने राज तो कियो है जरूर इन खोलिए में मैंने भेजो तो मनुष्य रूप खोलियो हो जितना ही मनुष्य अच्छा लक्षण आज इन खोलिए में हा और मैं सर्वरी पाल की तटे में हिंड ली और आगे भगवान रे जचे जो करे भाई तन तो आगे सर्गी मिलेला बाबा दुनियाबाज है निकल भाई क्यों भी मैं थाने भी दुनियाबाज दियो इन खोलिए ने भी थोड़ो दुनियाबाज देता तीन बार उन खोलिए माए निकलियो तीन बार पाछो बढ़ो और बड़ो ने प्यारे साथ वो अनसेरे माए आंसू आंखिया में नजर आया राजा भोज ने रुमाल रे माए जिन टाइम राजा भोज रोने लागो क्यों मनुष्य रूप धारण कर अच्छा जो अमल किया करे उनने साथ रे माए अंशो भी एड़ो एक अच्छो पवित्र कर गया करे तो उनने इन आगे अच्छो ही रहला तो वो रोन लागो राजा भोज रवे तो इतो रवे और रानी ने ठा पड़ो કયો કે મારો બાપ મર્યો છે રાજા બહુ જ હસ્યો મારો ગર્વ તની અર ઓ આ જોકો મર્યો અર કાય જોકો કોરો રોઈ રોવે આજ તો રાજા રોજ તીન દિન તક રોયો રાણી ઉનને માયાડી ગાતી કે મારો બાપ મર્યો જણ તો હસ્યો ઓ મર્યો જણ રોયો એનો મતલબ કંઈ તો રાજા બોજ કહ્યું કે રાણી મારે ગરુરો વચન છે ને મને આ વિદ્યાદેવનું વચન હે કે ભેદ દેલા તો પથ્થર વહેલા और थे बेल लेनो चालियो तो बाल अठ त्रिया अठ राज अठ और जोग अठ त्रिया अठ पड़ लियो के पत्थर हो जाए चाहे खत्म हो जाए हमारे धनी नहीं चाहिए मैंने तुम्हारा बाप है जिन्हों पवित्र थे इनको पड़ुतर ले तो गंगा जी तट में ताल मैं तो जाऊँ जाऊँला पत्थर और तू थारा पड़ुतर ले परी आज उठे रवाना हुआ तो रस्ते में एक बड़ और बावड़ी दरखत आया मारवाड़ी घोना और बकरा चरावणी खिलूरी उभो है राजा बोझ क्यों कि अठे रथ थांबो तो मैं जाऊँ अठे हम भरन लाऊ अपने तो आप हाल ले आली मुश्ती हा वो पानी लेन वास्ते गया तो वो बकरो और बकरी बोलिया बकरी बोली कह रहा बकरा और बावड़ी रे નાલેમાં એ કચરો એવો મને દેવે તો તું મારો પતિ હું તારી અસ્ત્રી ઓર નહીં તું હું તારી અસ્ત્રી નહીં તું મારો પતિ નહીં બકરો કહે મેં રાજા બહુ જળ થોડી જો પથ્થર વણ વાસ્તે ગંગાજી જા રહ્યો હોય તીર્થ નાણ વાસ્તે જવે નહીં और थने मैं जो को हमार बिगर काचरे लुगाई कर लो तो, तो भाई कर ले जो दुनिया वाजे और तू नहीं वेला तुम्हारा हित रसीक बकरियाँ बैठी मन तो थारी परवाह नहीं बट तू ही हमार बिगर काचरे लुगाई हो जावे तो કે નહીં વાલા उन टाइम में हिरकते पाचे हिंग ओसा हाथ दो एक लंबो जो जो अगर बकरी रे पांच लीर मांग दी उन टाइम में दो चार चारी तो करी रड़ा रड़ा करता ही पाची गां साम हूं तो थारी पत्नी तू मारो पति और राम रे नाम मारे सिंह है जो फिंपरो तोड़ रही है तो कि मार सार या करे मार सार से भूत ही ना जाया करे तू कहे हूँ वो नहीं इन बात रो मतलब मने माप में नहीं है हमें है कि नहीं है कि साहेब छोड़ हाथ वार थारी अस्त्री राजा भोज रे कने बात पड़ी कि मारे सार माए लिखोड़े कुबार जाने मार सारा मार रे माए सार है तो फिर वो भी गुरु गयो तो मैं अपन मार करनो है राजा बोझ जाए और रानी ने कहो गया रानी क्या अब तुम्हारे तो ऐसी जची है कि अपने अठी बावड़ी अच्छी है अठे एक शिला होनो है और अठे में दुनिया नीर नावेला और उनने मैं वो तुम जगह है मैं तो अठे पत्थर होना चाहूँ मन जज की थने भेज दे तो एक विश्वास में अठरे मायन विश्वास कर लियो पर थारा हाथ पग बंदोला जज भेद दोला कि क्यों कि थारे मारे प्रेम है दुनिया में प्रेम रो पाठ होया करे लुगाई और लियाज रो पाठ होया करे माँ बाप और सत्य और धर्म रो पाठ होया करे बहन और भाई और दया रो पाठ होया करे गरीब जो आप मारे प्रेम रो पाठ वेने माए मैं पत्थर वाला आप रो एड़ो हाथ पग मोए रह गयो तो आप कठे जाओ गई अलम के राजा मारो बाप मेरे जो नशे मारो थारे इतो दिल आगो गयो है जो तू पत्थर कहीं आग हो जावे तो मारो दिल डी थारो हम हाथ नहीं करेगा वो तो मैंने दीजो ही ऐसा पर की को जरूर मने और दीजो है कि आप रो हाथ पग मोए रह गयो तो आप हिला छोड़ जा नहीं सको और आपने जरूर बंद लाद उन बड़ी खुशी बंदीज की राजा રાજા કને હાથ પગ બીજા બંધાય બંધુ રહ્યું તેમાં રાજા કોઈ હુકમ દિયો ગા મારા પેશિયા બાવળિયા और बावली जिनी लंबी सूलों होया करे इन्हें छोड़नी नहीं और लावनी छोड़नी नहीं वो मल्ला भाई पड़िया जो बावली आ वाली सूर्य आई जो है जो भारा कर कर ला रख दिया रानी रे की सूल गणी ले तड़ी राजा फिर दोलो वो खून मिटी रे बाप रो हमको हम लोचनी बिखात रो भालो महा सुंदर पद्मिनी होली री झाड़ झाला बुला बुबला बेन जले गाणी शाली कुल गारी होली जयप्री दियाली थाको बिल कौंस गड़ोर कटुर का ठड़े मोली और भाटी और जाकड़ो गुजरात रांदरी लूम भोजना रानी रो शरीर रो राजा री रानी बावलिया री तड़िया लागी और शरीर में खून फूट जो और त्राय त्राय रोन लागी बाप जी मैंने मारो मती क्या आपने भेद मिले है मारे एक जगह सितर भेद आ गया और मारी जान खत्म मत करो तो तराणी तो तीन सौ तला गाजो तो राजा आज तो मारो बाप मेरे जो हसो है और मारो पूरे खानदान खत्म हो जाए और छमीना आशे तो मैं नहीं भेद पूछो लार मने बात छोड़ दे तो रानी ने भी पूरा भेद दे दियो और रानी क्यों गए राजा कहो गए रानी ते मने उन दिन सार लियो जिन पलियो तो आज मारे सार काम दियो हूँ बच्चो तू बची के दो नहीं बच गया आप तो मार सार करी तू नहीं वास्ते आप तो बचाव हो गयो और मैं बचे कहीं काम रही को नहीं तो मारो ही बचाव होए ગયો रानी રાણી बात પાત્રો ગુણ માન્યો और पाचा आप रे घरे पधारिया है घरे आप तय रंग रले करिए घड़ी लाख लाख रुपया री गुजारी एक दिन समाज उगो है मेलात्र माला कनी राजा भोजरे रो चाकर जो सितरसी पर डोकरो पुराना उनने कम से कम पचास पर हो गया राजा भोजरे आगे डोलियो और बिछावनो करनो और कोई काम नहीं एक दिन समी और डोकरे जजगी के मैंने सितरसी वर्ष हो गया मैं और डोलियो बिछावा उनने मोए आप जो एक दिन थोड़ी मैं आराम कर लो कहने में तो कहीं तो सुख है कहीं दुख है તો રાજા ભોજ રહે એવો ઢોલિયર માથે ડોકરું ઉગ્યું તો રાણી રો આવનો ટાઈમ હું રાણી દીઠો કે મારે પેલિંગ માથે રાજા ભોજ સ્વાદુ જો કોણ રાણી બી આ સુ ગઈ રાજા ભોજ બારે शिकार ગયો હો वो भी रात रो आठ नौ बजे रे टाइम आयो આવતા દેખે તો માળી રે માએ પિલંગ રે માથે દો શખ્સ એક તો રાણી है एक दूजो शख्स है जब मारे माल मकान रे माए चोर लाए जो है तलवार ही गले पे निकालते थके और उन्हें ऊपर हाथ के ऊपर रही उन टाइम याद आई गो झरना पे में एक सारा आयन के फौज नहीं तूफान नहीं गंज नहीं मशीन नहीं कुछ नहीं और सूतो है जड़ो भी मोटिया है जड़ो मारे हाथ में तलवार है थोड़ा का गम खा लो गम खाने के बाद इन्हें वेला जो फैसलो कर डाला गम राजा बोल जाए थम्बेरे पीठ में ऊपर रह गयो है रानी पाओ फोरियो और वो जागियो ओहो हो उठते क्यों है माता मारी एक सात સાત પીઢી સે એડો એક કલંક जो જો मारी बुद्धि नष्ट हुई हूँ थारे माता रे રે माते हो गए और मैंने भगवान रे नाम एक बख्शीस नवा दे दी ये कि बेटा माता और पिता को कोई बख्शीश न हो तो नहीं है माता जिन जो माता होती है वो बच्चों के लिए भी पिलिंग पोस क्या उसका पेट के अंदर रहता है तुम तुम्हारे पिलिंग पर रहे हो तुम हमारा लड़का और मैं तेरी माता हूँ मैंने मेरी तरफ से जो आपकी जो खता हुई मैं आपने माफ़ करी तो अथा जोड़ी कर और उठ्यो और हमारे वो उन टाइम में राजा भोज अलप हो राजा भोज आयो तो रानी ने पूछो कि रानी क्या बैठी क्यों क्या यूं बैठी तू भेद रानी उन्हें दी उन्हें राजा भोज के आज तो तू खत्म हो जाती क्यों कि शार मैं नहीं खरीदया वन तो तीन बार तो मैं खत्म हो तो और एक बार आपने आज खत्म होना मतलब कहीं कि आप रे डोलिए में जो आदमी हो तो उन मैं तलवार निकाल आप रे में तो उबरानी कर और मैंने रखी वो राखने रे बाद कहीं हो कि आप तो माँ बेटो और छूट गया जो माँ बेटे ने तो मारी जे नहीं तो झरना बमेक सारा झरना नाम मोटी चीज़ है उन्हें माए दुनिया रे माए जो समझदार है और जो अकलदार है वो चार सार याद रखे उन्हें अकल और विद्या रे माए कोई खतरो नहीं पड़े जागता तो रहन सारा कुबार जाने मार सारा दुश्मना ने गुण गुण सारा और झरना बमेक सारा ये राजा झरना धीर धीर धीर झरना ने क्या करे धीर झरना मारवाड़ी बोली में क्या करे धीर भी कहो तो सब कुछ है धीर राखनी हर बात पहली नहीं करनी खातो काम तो है नारद रो और नेचर काम भगवान रो है तो आपने अर्ज करा दुनिया रे माए कवि लोगों ने शार रे माए राजा राजा लोगों ने कवियों से पूछो है समझदारी की बात है जो कवि है वो भी दुनिया ने जिमी आसमान रो भाव बंधो है तो जिमी आसमान की बात बताई है तो पूछने वालों ने भी सही पूछो है तो उन्होंने जवाब भी सही दियो है तो आगे दुनिया में दुए की सही बात होती और जमीन आसमान रो जो भाव बनता तो महावीर सूरा ने जो काम कियो वो ही पगला पगला कबीलों का गुण और दुनिया रे माए बातें रखी है नाम निशान तो काम तो कियो है सूरा लोग का और बातें कबीलों लोग का नाम निशान राख लियो है तो वो नाम निशान है जो आज दिन भी और लाख किरण वक्त तक जमीन आसमान चांद सूरज रहला जल्द वो चीज अमर रहला तो उन्होंने पूछो है कि क्या न तेरिया आकर सगे क्या न सिंधु समाय क्या अग्नि में नहा जले को न काल नहीं खाए क्या न तेरिया आकर सकर सगे क्या न सिंधु समाय क्या अग्नि में नहा जले को न काल नहीं खाए तो पाँचों कवि लोग को जवाब दियो कि दुनिया में विगिर वीरिये कोई मनुष्य पैदा नहीं होता तेरिया पुत्र न जिन सगे दिल सिंधु ना समाय धर्म अग्नि में नहा जले जो नाम काल नहीं खाए तेरिया पुत्र न जन सगे मन सिंधु ना समाय धर्म अग्नि में नहा जले जो कीर्त कालन खाए पाछो कवि लोगों ने पूछो है कि कौन रवि से तेज कौन मदवा से मातो कौन तिना से तुष कौन अग्नि से तासो कौन लवा से कठन कौन सोना से सारो कौन दूध से उजल कौन काजल से कालो कौन बिछू पे डंग कौन भूमि से भारो कौन सदाज से लेत कौन पुत्र से प्यारो तो कवि लोग का जवाब दियो है कि नेत्र रवि से तेज हुक्म मदवा से मातो आंखें सूरज से जोर है सूरज की सोलह किरणा है और आंखें बत्तीस है नेत्र रवि से तेज हुक्म मदवा से मातो हुक्म से लाख फौज गायब हो जाती ख़त्म और लाख फौज बच जाती हुक्म मजबूत होता है और हाकम नहीं पलटता है हुक्म नहीं पलटता हाकम पलटे हुक्म मदवा से मातो और मंगत तिना से तुष क्रोध अग्नि से तातो कबूत लोवा से कठन सपूत सोना से सारो जस दूध से उजल कणक काजल से कालो बैण बिछू पे डंग पाप भूमि से भारो दिल सदा जिस लेत और जीव पुत्र से क्या जग दाता दातारो बहवा राजा बोधरी सभा कचड़े कायम बात में अंकारो फौज में नगारो जियो अंकारो देने आलो तो आप नर्ज कहो फिर पूछो है कौन तपसी तप करे कौन नित उठनाए कौन सबर से उगले कौन सबर से गाय कौन तपसी तप करे कौन नित उठनाए दुनिया रे माए कौन अड़ो तपसी हमेशा तपसा करे कौन हमेशा नावे हमेशा रे लिए कौन तपसी तप करे कौन नित उठनाए कौन शबर से उगलेर कौन शबर से खाए सूरज तपसी तप करे ब्रह्मा नित उठनाए इंद्र शबर से उगलेर धरती शबर से खाए हाँ जवाब दो कौन पंछे कौन पंखेरू पाख बिन कौन पेड़ बिन डाल कौन सरोवर पाज बिन कौन मौत बिन काल कौन पंखेरू पाक बिन कौन पेड़ बिन कौन सरोवर पाज बिन कौन मौत बिन काल कोई पंखी है दुनिया में जिन्हें पाख नहीं है कौन एक सरोवर है जिन्हें पाज नहीं है और कोई एक दुनिया रे माए चीज अड़ी है जिन्हें बिगर मौत काल नजर आवे हाँ जीव पंखेरू पाख बिन धर्म पेड़ बिन डाल धर्म है उन्हें पेड़ नहीं है दुनिया में फल डाला है डाला फल लागे फल दुनिया ने पवित्र दे जीव पखेरु पाग बिन धर्म पेड़ बिन डाल ए नैन सरवर पाज बिन नींद मात बिन का ये जने बता सारी है समझ लोगों रे लिए ए चीजा सार मतलब और जवाब पाछो मिलियो शार बाबा शार बलमा नहीं लिगार बाता बीसा बाता तना ऐज विचार के किन्नर सुधा के किन्नर जागे के किन्नर आप पोतिया माचा न पागे उड़ती मखीरी टांग भागे जगन स्वामन बेसवार सागे जग बाबा दाता रो बाबा राजा भोई सभा कचड़े कायम बाद में आंकरो फौज में नगारो जी आंकरो देव नारो तो सूर्य प्यारो सामना फुरुर मिल तिरिया दाता रो प्यारो मंगतना मातो डाकणिया सूर्य प्यारो सामना फुरुर मिल तिरिया प्यारो मंगत ना जाओ मातो डाकणिया तो सूरपुर क्षत्रि राजपूतारी खानदानी हजारों पीढ़ी और लाखों पीढ़ी से दुनिया बसी आज दिन उन्होंने दुनिया में वह महावीर और सत्यवादी काम किया तो एक राजपूत रे लड़के रे टाइम अड़ो वक्त जिन्ना माँ बाप ही मर गया और नैनत पड़ गई है और गरीबी हाल रहे माए हो गयो लेकिन उन्हें हाल गरीबी वो सत्य और खानदान है जो वो और सुरवीर महावीर हो तो उन्होंने सदगुण की ओर और शास्त्रीय मिले और एक बात करी कि राजपूती खानदान रहे माए महावीर सब काम अच्छा अच्छा कर सके लेकिन राजपूत मरने के बाद जिसका परिवार नहीं हुए उनने माए कही है कि लड़की ने सुख नहीं दी तो अपनी लड़की है इन्हें दियोड़ी है एक लियो है भाई बिन है नहीं ज़्यादा रुपया मांगो और इन्हें छुड़ाए दो और दूसरी जगह पढ़ाए दो लार इन्हें कौन सुनवाई करेला उन्हें बोला है कि एक हज़ार रुपया आप हुए तो मोरी लड़की आपने फेरो दे दो और नहीं तो आप आप रे हाथ से लिख दो तूने कोई जवाब दियो के धन्य जावे धरा पलटे तिरिया पड़नते ताव ए तीन दिन हे मरण राज को मैं को अंक को राव मारी खानदानी से यहाँ रीत निकली हुई है कि ऐसी चीज़ें तो पालटो खावे उन टाइम में माथो दो या लो लिखनी तो बनी बात है आप कह दियो मैं सुन लियो और आप री राय मुँह समझ गयो अब मैं मारवाड़ रहे मैं जमा मैंने रुपया मिल गया तो ले आप राजरो जाओला और नहीं रुपया मिला तो आप रे लिए मैं खत्म मारे लिए थे खत्म तो सवाल कहते हैं राजपूत वो रवाने और खोची कहीं करो तो सिंह बड़ी अकई पर मारी नहीं खाए तीजी लाहा न पड़े भागो लारे नहीं जाए और तो खानदान की रीति है कि मांगना भी धर्म नहीं है तो आप वहाँ अन्न छोड़ और मर्जा माजू को नहीं होना लगा थारी लुगाई गई और दुनिया जुग पर ले तो अन्न और पानी की साधन ले ली और घूमते घूमते एक गाँव रे मैं गयो आगे एक लखपति करोड़पति सेठ है उन्हीं लुगाइए जो को पता प्रति लुगाई है उन नेमन है उनने भगवान रो नाम ले माला फेरे और जो भी उनने खाने पीने रे लिए कोई भी जो मेहमान नहीं आवे तो वो खुद भी खानो नहीं खावे आज से एक दो मेहमान जिमाए या कोई कमी नहीं पर वो रोटी खावे उन दिन दिन भर उन्हें मेहमान नहीं आयो और शामरी टाइम में वही राजपूत गयो उठे शहर में મોય पहुंचो और कठी खाने पीने वास्ते कि मनवार करी उन्हें हालत करी कि भाई दूजो आदमी हो कि एक सेठानी है उनने नेम है लखपति घर है उठे जा पर और जो आपने खानो खिलावेला तो पैसा देर खुला वेला और भे उठे जाए पहुंचो बड़ी खुशी हुई सेठनी के मारे मेहमान आयो इनने खानो पकार लाई ले भाई खानो खा तो हुई भी आठ पौरी रुपयों खानो खाओ आ मारे धर्म है के भाई साहब आप तो धर्म है पालन और भगवान जी माला फेरनो और मारे एक मरनो धर्म है कोई धर्म है कि मैं रोटी अन्न पानी खा देने दो दिन हुआ और आज भी नहीं खावला और फिर खत्म हो जावला एड़ो थारो कोई दुख है सेठानी पूछो तेने जवाब दियो कि भाई साहब नहीं जो मनुष्य मरण नो दिन है वो मारो है कोई है कि मारी लुगाई जावे सिर्फ हजार रुपयों के लिए इन वास्ते मैंने खत्म होना है तो सेठानी कहो भाई जा मारो पति आवेला जब मैं तेना हजार रुपया ले ला और तू खानो खाए वचन दो ए वचन दिया वचन देने के बाद खानो खा दो खानो खा दो शाम टाइम शेर साहब आया और शेर साहब ने शेठाणी पूछो क्योंकि आपने एक राजपूत एड़ी चीज रे वास्ते धर्म में वचन दिया और इन्हें खाणो खिलाया और एक हजार रुपया देना शेर साहब क्योंकि दमड़ी दमड़ी दाऊ तो मैं जोड़ूं और थारे देवती रे पट्टे बटे तू हजारों ब्राह्मण जिमावे और हजारों रुपया खर्चो करे मैं मर जाऊंगा दूध पता सा पी और घी पी मर जाऊंगा ला जाजे मथे गुलेटो खार मर जाऊंगा ला से पाही खार मर जाऊं ला शेठाणी मैं हरगस नहीं जीवा शेर साहब इन बातों में कहीं धैर्य नहीं है धर्म नेम खंडित होता है तो दुनिया रे माए मनुष्य रूप और मनुष्य जन्म भी खंडित हुए धर्म तो जानवर नहीं है मनुष्य धर्म है और धर्म भी करने से आगे मालिक रे घर पवित्र वेला और मैंने हजार रुपया देना है नहीं तो मैं मारी जान कटे सटे राख दे दला और आप इज्जत में तीन पीछे कर शेठ कि आप रिज मारी इज्जत तो आप एक ही है और मारी इज्जत मत घुमाओ और आपको तो हजार रुपया मैं दे दो आदत लो आदत करने सवाए देव कोई चीज नहीं है के क्षत्रिय है राजपूत है इनने के अंदर लाखों चीज़ों हैं तो ले लो शेर साहब के ले भी हज़ार रुपया दो मन सत आडो दी सत कहो कि मारा रुपया हज़ार नहीं भरो जितना सुइयो लुगाई ना तो नहीं कर सको कि मारे बाप ने मंजूर है और अपना क्षत्रिय धर्म रहा वादा है वचन है सतजुगरा कि आप रा रुपया नहीं भरो लोग सुइयो लुगाई ना तो नहीं करो फेरा खावाला मारे મારી લુગાઈ પણ નહીં જવાના હજાર રૂપિયા ઉણોને મારે સાસરી दे दाला पर હું लुगाई ना तो नहीं करो जा हजार रुपया ले हुआ रवाना जाए पहुंचो सासरिया ने रुपया लिया तो आज लड़की का निमन किया है कि लड़की भी अनहन छोड़ दियो है और देवी देवताओं की पूजा करने लागी है भगवान दुनिया में कलंक ना हमारे राजपूती खानदान रे माँ एक से दूसरे भगवान छोटो है और मोटो मालिक पैदा करने वालो है और तीसरे नाम रखने वास्ते भगवान का सिस्टम रखे हो मारो एक तो पति जीव तो दुनिया में भटकेला और मैं जीवती दूजी राजपूतनी रे दूजे राजपूत घर में जावा लाज मारो भी खानदान और नहीं है इन घर में जन्म नहीं देवनो हो ए देवी देवता मैंने खत्म कर दो उन अन छोड़ दियो है राजपूत जाए पंच रुपया दिया वो भी खुशी हुई है ब्राह्मण ने बोला है और लड़की कहे घर वो पानी नहीं पीवाला कमने के माइटो ने क्यों कि थे मन कष्ट किया और मैंने बहुत दौरा किया इन वास्ते मैं थारे घरों पानी नहीं पीवाला मैंने फेरा खुला दो और मरसते जाओ तो फेरा खाए रहा उन टाइम में माँ बाप भी निराज हुआ और उन्होंने भी गरज पड़ी पाची और कहो कि अब तो भाई यूँ करो मारे घर अंचल करोगे नहीं माता छोकरे ने बोलने ने जवाब ही नहीं रखे उन लड़की के मैं थार करो पानी नहीं पियो क्यों कि तेरा राक्षस रूप में हो गया हमारी जान रहा और हमारी इज्जत खतरो की मैं थार करो पानी नहीं पिया रवाना हुआ हुक्म आपने अर्ज करा तो बैठता बैठता आपने गाँव पहुंचा बड़ी खुशी मनाई एक दिन दो दिन हुआ और राजपूत क्यों कि शेख साहब रुपया देना है अपन कॉल मौजूद अपन घर छोड़ और देश में एक मजूरी करने वास्ते आप राजपूतों ने आप बिराजो तो मैं जाऊँ पर नौकरी माते तो आगे हो તો આ બી સત્ર વખતો સતી લોક સત પાલન્યા હા ઉન ટાઈમે મેં રાજપૂતને કહ્યો એ મારા માલક મેં લારે तो मारे एक जान खत्म हो वाला और जो है और भी समंदर आप रोक्यो है तो आपने अच्छो काम कियो कि अपनी घर ही चीज आडो नहीं रख दी और घर ही चीज आपो दोनों में नहीं रख दी जो अपना अच्छो काम कियो अपन कोई मेहनत दिन नहीं देला अपने जायरो ने मेहनो नहीं देला और अपना अच्छो काम कर दियो लेकिन आप रे मैं हाथ हालाला जिन टाइम में मैंने कोई मनुष्य और जायरो मिन्नत કહેવે તો તો હું આ પર ભેળી रहला और लुगाई के उन टाइम मारो माथा तोड़ दिया क्यों कि मैं सतवादी हूँ हमारे शरीर में कोई ऐसे में नजर नहीं आवेगा लुगाई एक आदमी है जिल्लग मैं सुई लुगाई ना तो नहीं करला जिल्लग मारे कोई नजर नहीं आवेगा और आपने वादा कोई मैंने लुगाई के उन टाइम मत तोड़ दिया तीन मर्दाना बेस कर लिया और साढ़े बहने रो तो कर लिया और रवाना हो गया बात करते पहला ला दिन जाव दे जेब नहीं ला थोड़े घने दिन चीन माची ने रास्ते में पहुंचा है उठे गया है तो बाजार में એ પંચાયત ચોપટરમાં એક લખપતિ શેઠ પરદેશનો જાજ બનને વાસ્તે ગયોડો હોય और ગુમાસ્તાનો હુકમ દિયો શેઠાણી કહે જાઓ આપણે બજારમાં કોઈ એડા આદમી લાવો જો આપણે દોડી માથે પોરે રહે જાવે તો मनीष अब गया बाजार में आए और कौन गोपी वालो जोड़ो दोनी सड़ो बनी उबा है बाजार में आए और पूछो कौन हो कि मैं तो मारवाड़ी राजपूत अठेक अठेक हे राटे माथे आया हालो मारे हाथी गया सेठन साहब से बात कराई सेठन साहब कह हुई बेटा हमारे हमारे ठहरे जाओ तो आपने आ तिनका पाँच पच्चीस रुपया बांध दिया है और दोनों ने राख लिया है तो रात रो पोरो तो दे बहनो ईशा कौन के करो दनी और रात रो दिन रो पोरो दे लू गई क्योंकि रात रो पोरो दो रो वे दिन रो हो रो वे इन वजह से महीनों हुआ दो महीना हुआ टाइम पास कर रहा है रात रो पोरो तो दे करो दनी दिन रो पोरो लुगाई दे और साले बहन रो नातो कर लियो दुनिया पूछे तो हाड़ो बहन बतावे तो बात करते बेला लागे दिन जाओ तो जेज नहीं लागे चतुर्माशा दिन है मंदिर मंदिर गाजली और दुनिया और दाल भाजली और मल्लाग जुमलाग बिजली चमक रही तिरमिर तिरमिर छोटा पड़ रहा है मंदिर मंदिर गाजे जो दुनिया और दाल भाज रहे हो चतुर्माशा दिन आया है आ पड़ पड़ बूंद पिलंग पर कड़ कड़ बीज करंद शायदन मेला बचे एकली वेर धड़ धड़ जीव करंद बीज चढ़ी लागी झड़ी शायदन आण खड़ी अर मैल चढ़ी जिद बोली हो सारंग रड़ी रड़ी ऐसो एक बरंगी और सुरंगो टाइम आयो है उन टाइम में आषाढ़ रो महीनो है रात रो समो है सेठाणी जो कानरी मालिक है उन सेठ प्रदेश में जहाज बनने वास्ते गयोड़ो वो भी मालिक री प्यारी राम राम रटे रात भर राम रटे और दिन रो काम करे रे भूत ने बिलणा बिलणा रे පිටියේ බාපර ભૂતને બિલણા रे आए ડાકને जी हिना मोन रे आए उन टाइम रे मले कनी મોલે કની આદિરાદંકાએ बरसात बरस और अबरलो दियो है बंद हुई है जिन रे में बाग बगीचा चंपा मरवा केवड़ा रे लपेटा रे माए पपियो बैठलो बोलियो है और राजपूत है जो जग बाबा दाता बाबा राजा बोधरी सभा कचड़े राजपूत तो पोरे माते खड़ो है राजपूतणी पोस्ट माते आराम में है उन टाइम में पपैयो बोलियो है पपैयो बोलता ही राजपूतानी आंख खुली है तो लारली तो जो दुख हो वो तो राजपूतनी पंतर गई इतो दुख ने याद आयो जो पपैये ने जवाब देना पड़े तो कहीं कहो है पपैया पीहू पीहू मत कर पियो जम हारे पास साथ भरू सेठरी जद करो घर वास पपैया पीहू पीहू मत कर पियो जम हारे पास साथ भरू सेठरी जद करूं घर वास तो आपने अर्थ करा जानवर है कोई मनुष्य बोली में समझे न को बंद रहे तो वो तो पपैयो बोलियो अच्छो बोलियो जनो पपैया चूचे बढ़ाए दो थारे ऊपर बहावो लून पियो मारो हूँ पीवेरी तू कहने वालो कौन पपैया चूचे बढ़ाए दो थारे ऊपर बहावो लून पियो मारो हूँ पीवेरी तू कहने वालो कौन दो दुआ पपी रे साथ में क्या उन टाइम में राजपूत रे कोने आवाज गई और राजपूत देखियो कि सतवादी बचंद्र में अपड़ोड़ा हो और हजारों पीढ़ी री सतवादी है पर आज समंदर हो बारे नहर गई परी तो इन्हें रोकने की कोशिश करो पूछो कह राजपूतानी जुलम कर दिया थारे मोंडे से अरे तो पछतावो इतनी हिम्मत जानवरों आगे मनुष्य आगे भी दाखनी गुनाह है अपन ये कह मनुष्य आगे दाखो तो भी गुना नहीं है और जानवर आगे दाखो तो गुना नहीं है समुंदरी लहर है वो तो छोड़ो मत अवेला हमारा मालिक क्यों के रुत एड़ी है पवन की फौजों चढ़े और कोयल बीन बजाए हमें बोले पपियो पी पियो पिया मैसो दुख सयो न जाए बोलो तो हरी और कुछ नहीं तो पवन की फौजों चढ़ी कोयल बीन बजाए बोले पपियो पी पिहु पिया मौसो दुख सयो तो गरज धनी कहो राजपूत કે તડ લંબા બડન ખરા સગુ ડઈ સેણે पियो जदे ही मानसों अपने बहोरों पत्ते बहने ए राजपूतानी बॉस बारह महीना में पाक जलम और बूढ़ो खत्म हो जाया करे महीना बारह तीन सौ आठ दिन भगत लोग बारह बारह साल माला फेरे अन्न पानी नहीं खावे वही टाइम पास करे बड़लो हाथे पर साखधारी करे साखधारी गांव जागीदार बड़लो आदमी उन्हें साखधारी क्या करे बड़ले दरख्तार में बड़लो हाथ में बस साखधारी जाया करे तो कोई टाइम नहीं लागे अपने चार से मिनाए बारह महीने वाला झंझट है और छोड़े ने बाद में सेठानी में लाद रहे माए राम दे टाइम वो श्रोता डगी और बात उनने करने पड़ी और कह गए राम राम राम दुनिया रे माए अच्छा समान चांदनो पुतरों समान प्यार मेहर जेवी ने कोई दोष थी उसे घोड़े समान कोई यार पुत्र बतल बतौण सगुनी ने घर के बार चौथी पीठ पर मंगरी है सरग निशाने चार ये सरगरी निशानी है स्त्री जो है पूत कपूत कुलच्छन नारी लड़त बड़त लजावत सारी लोभियो मिंत अदेव ठाकर चाकर चोर कबौड़ कठोर राजा लालची वजीर दुतारो वीरबल के हे सुन साहा कुबर बारह मंद समझ में डारो इन्होंने तो छोड़ो और यज्ञाकारी स्त्री है साथी सुखारे माए जो अच्छी स्त्री उन सुखी तो मारे अठे मैलात तेरे माए लाखों अरबों रुपयों की मारक ने माया है सब सुखी सुखी हों और पियो मारो और हूँ पीवरी तू कहने वालो कौन जिद इन्होंने कोई विरोध है या इन्होंने कोई दुख है मारे मैलात में और दुख नहीं होना चाहिए उन समय हुक्म दियो कामदारा ने कहा मैलात रे माए जो पौरे माथे कौन है उन समय उसको बोलाओ उनने बोलायो भाई तू कौन है हूँ तो राजपूत हूँ भाई साहब कि ठीक है दूजो कौन है कि मारो हाड़ो नहीं बोलाओ हाड़े ने बोलायो बोला क्यों भाई थो लुगाई कौन है आदमी कौन है कि भाई स्वामी तो दुनिया आदमी और हाड़ोर बनी थोने तो कोई आगे जची के नहीं एक लुगाई का आदमी जनो वो कौन राजपूत ने बोली आप परीक्षा करो तो उन्हें कोई निशान नहीं कपड़ों में कोई नहीं पड़े जब उन राजपूत की परीक्षा तुम्हारे तो नहीं हो सकती तो एदुअर्टन कया कया पपिया पिहू पिहू मत कर पियो जो मारे पास शाक भरू सेठरी जद करूं घर वास तू से बढ़ाए दो ऊपर बहामो लून पीओ मारो उण वेरी तू कहने वालों कौन एक ने वो दुआ सिठणी में मुख से निकलिया है उन टाइम रामायण उनने वो टाइम याद आ गयो पहल को जो कया था वही टाइम और उनने समंदर रे माए उली आयो और उन राजपूत ने आंख में आऊँ आयो पटना हाथ फड़ियो के बेटा तू लुगाई है और वो आदमी है राजपूत ने छुट्टी दी पाछो आप काम में आ गयो राजपूत ने कहने बैठान लिया बेटा थारो दुख प्रकाशन कर के माता दुख तो आई है કે મારે નૈન प्रगति और महारा माई त्राक्षी रूपा उन्होंने एक माने कष्ट दिए और हजार रुपया एक सेठ करने माने उठाना पड़ा उनने माँ सेठ रो बचन है कि सुई लुगाई ना तो नहीं ओ मामा दुखे कि बेटा आज की रात तो निकल गई सुबह दिन आपने पैसा दे दो तीन दिन तक मारे वास्ते आप रजा उठे सेठानी कागज दूर लिखते थे और गुमास्तों तो ऑर्डर दिए गाँव घोड़े पीठ में सवार वो और शेठ साहब ने बोला जल्दी लाओ सेठानी साहब रो पेड़ दुखे पहुंच जा तीजे दिन शेठ साहब आया गरीब આવતા શેઠાણી જાણતા કે અહીંયા ધર્મપુરની બી નહીં કરણ દે બ્રાહ્મણ વાસ दे शेठ साहब झंझट कर लिया करे तो अपने दूजी बात बतावनी कहीं करना शेठ साहब क्या मैं तो आज उद्देश्य शेठ साहब पूछे उद्देश्य क्या कि उद्देश्य इन वास्ते मारे वास्ते एक बुरो काम हो गयो मारे हाथ से कहीं वो कि मारवाड़ी खतरनाक राजपूत को मैं उन्होंने मैं अपने आगे रख लिया डोडी माते उन्होंने कानों से सुन ली सलाह कि राज सेठ आवेला उन टाइम रात रो मार सेठ ने हजारों रुपये की कमाई ले रहा भाग जावाला और अब कमाई कर लाला અમે મને हो ચોર્યો હોય શેઠ साहब उन्होंने बोला देखे तो बेटी रे बापरा ऐ संग अब दू देखता है उन्हें नजर फाड़ गई शेठ साहब की बाकी में तो एक कोई देश भी इसी मार सके अरे हे मारने लायक राजपूत है मारवाड़ी और आपने दुख देला इन्होंने कहीं मजूरी बीजी के मजूरी देना पाँच सौ आठ सौ रुपया यो या वेला सा पर हमें तो वो निकालना बोला क्यों भाई ठग साहब आप रे मजूरी करनी जरूरत नहीं है मारे शेठ साहब गिरे आ गया रम पधारो उन्होंने कहो डॉग थे नट जाइयो उन्होंने कहो सामी तो है जो मारे जावा नहीं भाई सामी तो काती में जावा अरे काती नेरी आषाढ़ ने मैं तो आषाढ़ लेरी जो और काती का दावेला मैं तो नहीं नहीं साहब बच्चे ने काती मारो काती रा पैया दे दो साहब कहो कि ले कोई के ले कोई दस हजार तो कोई जावे नहीं जावनो नहीं है थोड़ा आज नहीं काती कि थोड़ा जैसे दे एलो एलो है चार हजार रुपया ले और हाथ फिर तुम्हारे घर मेरी बेटी है थारे दुख रहे मैंने ठा नहीं पे वो दिन अड़प है और तीन दिन मैं इतने रोगी मन पुन पराचित और आप तरफ आशीष होनी चाहिए मारिया बेटी आपने चार हजार रुपया दिया लेख राजपूत राजपूतानी शेठणी कने हुआ रवाने पहुंचा शेठ कने शेठ कने पहुंचते ही दिंदरो बदान गया उठे शेठानी समझदारी और के लो शेठ साहब आप रहा हजार रुपया और दूजो आप ब्याज पटो जो ले लो और मने आप जो मारो आडोनो पाछो शेठन के बेटा आज नहीं लाला तो आज की रात तू आई है तो थारा सत्रह इंतजाम लाला ला थार ಮೇಲೇರ रुपया लाला रुपया ಅಲ್ವಲ್ಲ कोई ಮಾರಕ್ಕೂ नहीं वहाँ ने खानो जो खुलाए और जगह रे माए जो कोने भी जो करते थे कि राजपूत राजपूत ने माए हुआ दिया है और शेठ शेठानी गुप्त उछाने उन राजपूत राजपूतणी से बारे हु गया है तो घंटों दो घंटा रात गई चार घंटा रात गई दस एक बजे रो टाइम हुआ को और राजपूतानी बोली ए मारा मालक ए ए मारा ईश्वर एक मारे अर्ज है कोई है कि मैं इतना दिन जो निकाले तो मारी खुद रही मुसीबत और मारी खुद भगवान की तरफ जो ही वो कष्ट निकाली आज रात आधी दस बजी है दस बजी के बाद आधी रात रोकण सेठानी ओडर आज मैं ओडोला या मारो इन टाइम लिखो कर ले सेठानी गिरे दिया गणा पत्ते गणे क्यों मैंने आज की रात निकलनी मैंने हराम है क्यों कि मारे एक के थे तो रकम है एक आत्मा थे मारो मालिक है और सिराती पगा थी शेठ से गिरी सूता कोई वजह से आज राज निकालो भगवान जवाब दे या शेठ से जवाब दे શેઠાણી ઉઠી કે બેટા બોલી वो तीज राख जे थारो सत्रह पौरो में जान लियो बाकी में रुपया मारा हजार दर दे और थारो सताडो न छूट्यो आज की रात मैं पुन पुरा जलो नहीं और पुन पुरा सीध मारे जलो नहीं रे वह उठा शेर शेठाणी उठा રાજબૂત ઉઠ્યો રાજબુતાણી ઉઠી અરે ને રૂપિયા ગુણર દે દિયા 1000 રૂપિયા માથે શેઠણી પડદો ડાળ દી હોય શેઠ સાહેબને કયો આપણે રૂપિયા આ ગયા એનો સત્ આડણો પાછો દેજો તો કવલ વચનરામુખજીઓની વાતો હી સત્વાદીઓને માંનોનો વચન કવલ મે પાછોનો સદ દે દી હોય હું આ આપણે રંગરલી કરીએ ગળી લાખ લાખ રૂપિયાની गुजારી આંદરા ઉછાળ કર્યા સબે શેઠ સાબ બિગ્યા ઉઠ્યા કે શેઠણી તો રૂપિયા મના કરતા હું બ્યાજી લેવા રૂપિયા તમારા ઘરન रख લઉં શાયદ આ શેઠણીને દે દેલા तो शेठ साहब उठा है पल्लो आगो ले तो ना अगर विष्णु पड़िया शेठ डर पाछा शेठणी जार के ठाली बुली थे कोई अदू कियो है ने रुपया दिया हजार रोकड़ा में मारे कुंदरी कमाई रहा पाचा मारा तो नाग पिछू पड़िया और कोई काम कियो के सकीम कोनी हमारा आपरा दूजा गुणा दर दिन गयो जो रुपया गुण्या तो रुपया हगे आगे पड़िया सीटने के ए कृपया धर्मा दे करना या तो इन छोकरी ने अपने हाथ फेर और नहीं दुआला और इन्हीं अब जो समंदर रोके उन्हें माफी मांगनी पड़ा ला क्यों कि आप वो काम तुमने थोड़ो कियो और इन्हें आपको नुकसान घनो दे दियो इन वास्ते अपने वास्ते बिछुर ना गए नहीं तो अपना रुपया है सेठानी हजारा दो हजार रुपया बेला कर और उनने कपड़ा लता कर घरी बेटी कर हाथ फेर और उनने रवाना की उन सत आडोणो जो पाछो दियो आ राजपूत राजपूत ने घरी पहुंचा अणदरा छाल कर रंगरा धोरा लाग्या और उन परिवार भद्र सुख शांति तो सार बाबा सार पोना नहीं रे गार बाधा पीसा बाता तना इस विचार के मेरे सूता के मेरे जगह के मेरा रापोतिया मचर पागे एक दो समाज वो गांव रे माए गांव रे लोग री बस्ती रेवे और टाबर रवे जिन्हें लुगाई कहीं कहवे के तने कालो खावे काले डर बतावे टाबर बंद रह जावे ऐसा तो शेर हिल गयो बस्ती रे माए शेर आवे टुगड़िया छोटा छोटा जानवर कदे मनुष्य रपट कर लेवे और शेर बक्षण लेने वास्ते ले गयो और सिंह जो गांव रे मनुष्य करने वास्ते लागियो તો શિવ રે ગાંવ રે જાગીદારો બી થોડો પ્રબંધ કયો भी ढलने वास्ते સિંહ तो रात વાસ્તે લાગ્યો તો રાત્રે સમયમાં આધી ઢળને રે બાદ આવે તો દૂજું તો ઠેકને પખ નહીં મળે ગાંવરિયા કુલડીર માથે શેર આર છાપલન બેઠ જાવે તો ગદ્દો હે દુગુ જાનવર આવે તો ઉનને વાસ્તે वो आप रक्षण करे उन कूलीर कनी घर जो लुगाई उन टाबर ने कहते कालो खावे अरे तुमने टाबर कालो खावे टाबर बंद रह जावे सी दिठो कि मैं भगवान रे घरो शेर पैदा उड़ो मैं सब जानवर डरे और वो काड़ो कालो करे ने टाबर ही बंद रहे काड़ो आयो तो कभी मैं नहीं खाया क्या बेला शेर ने આડો डर पैदा हुआ डर पैदा होता है एक સમાગો समाज हो गया एक सेठ उन बस्ती रे माए रहे तो वो जलम रो बांडो बिचारो उनने कोई दिया नहीं पूता नहीं और गांव रे माए मूड़ की हुई बांध पेरी सामान रही हल्दी दाना जीरो गर्म मसाला ले और गांव में बेचे आपकी मजूरी करे तो उनने बाहर धान भी जो नहीं उपड़े जिन वास्ते गदो खरीद लियो गदेर माथे बाहर भजन गात करो और आप खुद चर परो और जावे जो को बेचन डाणियों में गांव में आप गुजरान करे एक मेरे समाज गए समय चौमा से ये सियाले टाइम ही और सेठ आयो मोड़ो सी पड़तो श्यार कहीं सेठ ही कौन भी हो होया करे जो अमीर होने के बाद तो एक लखपति हो जाया करे और गरीब होने के बाद एक अपलम हो जाया करे उन्हें काम भी जो कहीं नहीं होया करे जब जो कहीं वो के गधे ने रात रो छोड़ दियो गांव में चरत चर गधो तो कुलडी माते जावे दूजो उन्हें ठहियो नहीं अब माता माते तो शेर रो बस रो जो को जान जन जानवरों जावनो ही छोड़ दियो तो जावे ही नहीं गधे ने ठाव के शेर रवे कुलडी माते आधी रात रा शेर साहब उठाए आदृति तारो उगो है और बणिया कुटावनी तारो बजे उन तारे टाइम उठ तो ही आले रो ही पड़तो और पोती येरी ली तो लारे टेरे मोटी पागड़ी ही लॉन्ग ही शेठ साहब रे खुल्लोड़ी डीलो उगड़ो उठे जू जजगी के मैं जो को अपने गदो अपड़ लाए और आगे डाणी आज जावनो शब्द बेचने वास्ते जो को आप जो गदो जल्दी अपड़न लावा तो अठी अठी फिरिया तो गदो नहीं लादो है तो अकूरी माथे जावनो आराधो कियो है और देखियो के उठे तो गदो में जरूर मिलेला क्यों के गदो उठे ही जाहिर पहुंचे तो इन्हें वो लांग खुलड़ी और पोती पागड़िया लड़ खुलड़ा डी लुगाड़ो पौड़े रात रो टाइम हो उन टाइम में शेर देखते हैं कहेगा लुगाई कहे जो कालो हो जी और आज तो मैंने कालो खाए जावला मन बख्शन को तो मिली नहीं रहो कालो मैंने खाए जावला शेर साहब शेर साहब ने आंखें में नींद दी और गाबा टिरता हा कालो दे तो जन दिखते ही हो और अठी अठी दिखे तो वो बाहर कोनी शेर साहब लुड़ो तो शेर साहब देखो गदो वूड़ो कायो पड़ियो बिचारो और दापन बैठो तू बैठो अपो हमने कौन अपने गिरी ले जाओ जावती कांदरे में हाथ गाजो शेर जो ने कालो जो छे काले रो नाम लियो शेर से वो संख्या ही अब शेर संख्या ही शेर साहब कौन अपड़ियो शेर रो और कौन चो लार लार आप रे गु आयो गिरी तो ही આર ઉનને માથે આવરે પિલણી હંજ થડા બીજા હેંગ મોંડતે તકે ઉનને મોર કો બીજો ગાત જોશ ઉ ગદેરે ગાત તો સમાન ઉણ હેંગ શેરે ગાત દિયો હે અરે એને બંધન મજબૂત કિયો તો શેર જણે કે કાલેરો ડંગે જ્યું ખાવેલા આપણે આજ જરૂર ખા જાવેલા મને जिनमें छोडेला नहीं और आज मौत आई जिनमें कोई फर्क नहीं शेर साहब रे माए वो हल्दी धना जीरो रे खड़ी उठायो उन खड़ी रे माए गाटोड़ा जो लाव देते के वो हंज मोर माथे वो गाद दिया है और मोर को खान से ही बही रोए गांव में बाहर निकलियो तो हमेशा चढ़े वो तो ફર્યો પાછો તો શેર ઉનને ડરને રે લાયક દૂજે તો શેઠ દેખ્યો હવે કે ભાઈ ગધો આજ હિયો જ્યાદા મર્યો હે એનો આસ્તે દૂજે તો પણ ચડજા ઓલા તપેલા ડીલ જણો હોય હિયો નહીં મરેલા મેં નહીં મરેલા વાસા ચડતી એમને માથે અરે ઉભો રવાને ઉભો રવાને તો મિલ દુ મિલ ગયો હોય ભાગ ફૂટીએ દિન ઉગ્યો હોય પરગાલો પોર્યો હોય આર ધોરેલી ઢાળ આવીએ તો કોઈ ગદર માથે રેવે ઓ तंगर તન મેર બીજા તનેરા સિંહ પેટ લંકુયા કરે પતલું તન તો ગયો પર લાડે ઓર હેંગ સમોન આગે નસ્ક ने आए जो है और हूर्ज किन काटी है जो अगर शेर साहब आंखें में नींद उड़ी है देखे तो आगे शेर रो मत पड़े और हाथी करे भाण जन बेटी रे बाप रो सिंह कहे के सिंह नी मोह गाड़ दगाडार मोह दिठो दल भजता है डरता सो सारा आबे चमकी बिजली कौन बखने वाला और हाथी कर भाण जन कपाल दीठो रति रति पर कान दीठा शेर साहब दस्ता लागरी हरूगी और आंखें में चक्रावन लागियो है और शरीर है ऊंगी जो जो कामयाब खत्म हो होगी कि और घरी काली शेर रमाते चढ़ने बैठ गया जो देव कहीं जीव खत्म हुए जो और जानवर रमाते आज को भगवान कहड़ो चाड़ियो मन तो मौत आ गई शेर साहब शरीर मुंगी गयो है और शेर रे मन में तो वही है कि कालो है तो खावेला हमें आगे हंजा आ गया माथे रे मौत हाव को तो मंडर कने पहुंचो पड़ा तो हमें खावेला इन तो कोई फर्क है नहीं पण हमने दूजी कुछ कर लो शेर साहब कोई करियो माथे बैठा जो खाव दे जेब में नीचे पड़िया उन टाइम में पगों रे बीच में आ गया खड़िया और वो सामान हल्दी धोना हैंग लार ले पाए कोई लॉन्ग में पड़ गया कोई धोती रे में कोई कठी गाबो रे में पड़ गया है और वो सेठ साहब अठी पड़िया है का सिंह देखे को कालो मैंने पड़न खावेला तो मैं ही पड़ जाऊं तो मैंने खावे नहीं वो शेर ही पहाड़े पड़ गयो और वो है जो शेर साहब भी पड़िया है पड़े पड़े घंटों आध घंटों पुन घंटों यो सा उन टाइम में मैं सियार बेटी બેટી રે બાપરા કરો પાકડો ગાતોડો लॉन्ग दियोड़ी हाथ में पोलो के पोलाल गेडी लियोड़ी होंकड़ मुर्गे गातोड़े कंथी गातोड़ी सा और जबरिया पोतियो झुकायोड़ो आर कमीश बेटी रे बाप रो खास बाहर में कलेवाणो पेरोड़ो आर नाली बंदूक ली ओड़ी सा लेस्ट मैट वोड़ो और राजपूती बेस बेटी रे बाप रो श्याल राजा रे कियोड़ा और कठी गयो तो फिर वास्ते जो ऊन आर हरड़ो भरे जावे तो कटे श्याली कमजोर कोमी जो या करे जो श्याली करी धोरे धर तो पेल दूधी टोकन दी माथे माथे आयो और हाउ नजीक आयो शेठो शेर रो थोड़ो दीठो पूछ हाथ दो लंबो दीठो और शेर रो शरीर उंगी गयो शेठो उंगी जो जूर जूं जूठे वो रुक गयो साड़ियो शाली रुक दई अकल रो बहुत बुद्धिमान होया करे का मैं पढ़या तो कहीं कोनी नाही जे मैं है कोनी पगो गरो छोड़ दियो है वे नहीं वे तो थोड़ो शेर साहब में बात कर दो नजीक जार के थोड़ो को तो कहीं खादो थे एठे कहीं कराया है शेर रे पोने और हुई आ गयो कौन कर कराओ के मैं पूछे मती तो गदर बोड़ा ने अपन लायो ठालू बोलो मारे पोने पड़ गयो मन तो खाए जाए तो हे साहब आपने भी बंचाए दो तो आप मैंने कीन की इनाम दो कि अभी तू ला वही द्वाला तू ला वही द्वाला मैंने बचावनी कोशिश कर शेर साहब ने और दुलासो दे और सिंह ने गयो अरे मामा जी आप अठे पदार क्या यू यूं हाँ पादरा एड़ा पड़ा आप री हाथ पीड़ी एड़ो काम को नहीं कि भाई आको मत करो कालो है जो को मने खावेला अर्थ नहीं खावेला मारो दिन वस्तु जन काले रे पोते पड़ गयो और कालो तो छोड़े नहीं और काले रो नाम लेने आई गांव हैंग रे टाबर बंद रे एड़ो कालो नकटो है ये क्या कि काले हाथ वाले मामा जी पंचायत वाले की करके भाई जी को कोई हाथी मारोला कोई ऊँट मारोला जितनी शिकार करोला वो हैंग थने जात ह्यालिए ने छुट्टी है मने आज पंचायत है जन ह्याली कोम जो अवसौन सीमत कदी नहीं उतरे के जाओ मामा जी एले हूँ काले राडो बैठो और ते तो नाहनी कोशिश करो तो सियाली कोई कहो कि शेर से और सिंह के बीच में उगे तक पंजा पादरा कर और पूछ पादरो कर पर हाथ पादरो करो कि काला उठे मत ये जो शेर तो हूँ जबे और हमें आज को न छोड़ दे शेर तो उठते बिटी रे बाप रो सिंह और पड़े हिराड़े तबड़को तबड़को तबड़को बनवासपति में बड़ गयो यार बड़ी खुशी मनाई है हियालिया मिले जी को राम राम करे और उन्होंने हेंगूरी जिद करे गई हियालिया मैंने मौत बंसाया भाई तेरे हियालिया बहुत अच्छी कौम सेवा करे और शेर साहब उठा शेर साहब ने क्यों लो तो કે मैं थाने कहो तू कह ला वही आप इनाम मिले ला के भी शेर साहब आप पेट बहुत मोटो है और मैंने तो एक मनुष्य चरबी जो शौक है श्याल बोलियो जो को मैंने खुलाए लो और शेर साहब रखल बोली पड़ी के शेर हो वह बंचे हो तो इन श्याली बूंदी करी जो मारो पेट तोड़े ला जब वो पेट रे मैं खड़बली आली खड़बली हालते शेठ साहब एक तो मोने हाथ दे दियो सार एक लार मूल गुवार दिया हाथ दे दियो हाथ दे तो और के बेगो रे बेगो बेटी बाप मैंने दुख दे कोई કે મારા માં બાપ તો મર ગયા છોટા તે કરા ઓર દો ગુલરિયા જો મારે રાબડી રોંદી પાતલી જો ગુલરિયા થાળી રે મોય પડ ગયા મે ભૂખ મરતો હેજી પી ગયો ગુરજી ગુલરિયા ઓમ હાતા દાટ બસરા ગયા મારે પેટ મે જબ ઇ મોટરા બી મારો પેટ સુકો થોડો કપડા મારે ફાટુડા ગો બાબા મારે બીલ ઉગડો આ રતો બાબા ઉડો તોની ઋષી આદમી કો પેટ રે મોય મારે ગુરજી કુલરિયા હે દો જો શ્યાલ ઓર કૂતરો એક બેર આ કરે કદીની પીડી ઓર શ્યાલ કૂતરો નો મને ગામ મે નહી આવે जो मारे गुलिया खाता पड़े थारी बगुआ आवे भाई जो अठियो निकाले तो मारे मुड़ी आराम होए तो को थने तो खत्म करे और नहीं करेला थू जने थारे गुलिया जाने पर मारे चक तोड़ बेगो सियाल के देखो शेठ साहब ओई मारो गुण है कि कुतर नाम लियो मारे दिल कंटा कंटा आवे और मारो शरीर नहीं माने कुतर नाम लाला जब मारे जो को आत्मा नहीं मारे हाथ पीड़ी नहीं माने और आप है जो अरे कोई हाथ जो माने एक दो मुड़ दे हाथ दिया सेठ साहब एक दियो मोड़ दिया सेठ साहब खोंगा हो गया कह रहे मारे निकले परार तू बेगो हो दिन हटी निकल गया तो बोले मारे उजाड़ कर देंगे चर्बी तोड़ दो निकले पेट रहे माए के पास श्याल तो क्यों कि इन्होंने रोग हूं तो ना नहीं कोशिश कर श्याल तो बीटी दे बाप रहा बन फोड़िया जो जावे श्याल तो बंद रहे में भाग गयो और शेख साहब रहे जो दस्तान हुई पहले होए गिए पचे आप रहे वो मंडी मुड़ा हा જો સમાન બી જો લેવ તો તે કે આર શેર સાબ ઓટે ઉંચા ઉંચાએ પહોંચાય ગરી દિન તીનિંગ તો પડેરા તા આ રનો કયો ડર ઓ તા આ ગયો દસ ને લાગી આર પછી આપરો ગદો જો લાય આર સમાન વેચ્યો એ આર શાળો રો જરૂર શેર સાબ ગુણ ગાયો આર શાળો નો સી બી નું ગુણ ગાયો તો આપને અરજ કરામ એક દિન સમાજિક હો આર तलाव है मोटो तलाव रे माथे पानी भरेड़ो और બોરડિયા गणी बोर गणा उन बोरा रे माए श्यालो रो घणो प्रवार भेलो हो गयो तो घणे प्रवार रे माए श्याल तो लड़ी जी परा और बुद्धिमान को में जो क्यों कमजोर लड़ाई तो नहीं एक श्याल ले पाँव जोड़ी जन श्याली हम भेलो और श्याल ने न्यात बारो कर दियो कि तू मारे तलाव रे माथे नहीं हटे रह सके क्योंकि मन हेंगो ने पाँव कर देला तारे गुजरी होगी हेंगो ने रुला देला तू दार भाग जा तो वो रीस मारोड़ो अणेसर मारोड़ो दूजो एक तालाब ओड़ो ओड़ो उठे जा पहुंचो उठे पहुंचो તૂટે આપણે ધરવાળા બોર આવઠે કુશિયાર બીજા તો હાકવાની લોંક્યો બીજી એડી મમોલી જાનવર હાવઠે ઉઠે પહોંચી ઉઠે જાવતી આપણે તળાવરે માથે પાણી ઘણો બોર ઘણા દસ પંદર બોર ખાતા અશુદ્ધા હે મીઠા મીઠા ને પો મીટકી બિચારે પો મીટકી જદુણ કોઈ કરવા કે ઢળા લાયો તળાવરે મીટી ઢળા લાય રે દરખત રે નીચે આજે કોઈ થલ્લો બીણા દિયો ठल्लो धरो पिणाए और उनने माथे आवर बैठ जावे हवा और पर दिन चढ़े लेकिन मिंगनो री माला बिना देनी और राम राम रो मालिक रो नाम लेवे और हो पर दिन चढ़े बाद आप ही जावे जुड़ी 5 मिनट में बोर खार पास आवे रांत करे पांव ठीक होगी बैठो एक दिन समाज जो कोई लौके उन आवे जो को आर पानी पीन वास्ते आवे तला माथे आवर बैठ दाखिल करी ए जम्बूरियों पासे करे क्यों देखो नहीं थे तलाव रो मालिक कौन है खोदावणियों कौन है इन तलाव में राज किन्नो है उन्होंने हलन चलन कहीं देखने के थाने नजर आवे लौकी एक ही उन समझ की बात रहे मैं कहा इन्हें मन में अभिमान है तो अपने ने वेजरी बात कह दो कई बात है कि सा राजा ही थे थे दियो और और राजा और खोदायो तलाब पहले पुरानो जो को जी आप ही जो तो मन दीवानेड़ी सर आप रे जो जो करो कि तलाब मारे हाथ खुदा खोदायो मारे बड़ा मोर और हूँ जेठ राजा और मारो हैंग चौकी गाली हलन चलन गादी मारी थी और कई नजर आऊँ आपने और मुँह हाँ जड़ी मन कोई कोई अड़ी चीज कहो जो मारा नाम नहीं सुन जावे कविता को ठीक है सर नहीं तो है બોર नहीं खाऊंगा तो और पानी नहीं पीऊंगा દઉં મારી એટલે અદાલત હે કે સાહેડ ચીજે लौकी बोली कि थल्ला तेरे सोने दा तू सोन मल्यो बैठो थार तो थल्लो है वो होनर है और होनर तू लगायो बैठो थल्ला तेरे सोने दा तू सोल मल्यो बैठो है कन्ना बस जेवर मोती सुल्तान पिकम्बर बैठो है और हुआ राजी अरे थल्लेर माथे कुद्यो और ताड़ियां बजाए खुशी को जाओ थारे हाथ पीड़ी हैंग लौके ने पानी खुलो बोर खुला खाओ मौज लौके फंसी पानी पिए सुबह आवे लौकी को दूध होना दे और आप खुश हुए राजी हुए और उन्हें आज्ञाकारी दे दे एक दिन समाज हो गयो जोग ग्यारह डेरा देश बीस ही काकटी कांकड़ में फिरता फिरता दे तलाव माथे गदा पान मारते हैंग आ गया कुत्ता भी डीरे बाहर लाहौरी पटियारी है ऊँट खिजोड़ ऊँट जाड़ियों करोड़ी सिंगराज ने माथा करोड़ा और गदो गदो तक कुत्ता लियोड़ा जोगियों तो इस गाँव हाथ पीढ़ी शिकारों करे जो अगर तलाव ने माथे आया है आर આહાર હ્યા જી ने જોગીઓને રોક્યા એમને पीस ડેરો ને ए જોગીઓ કહો મને ઓળખો नहीं क्यों ये नगरी रो तलाव रो मालिक हूँ मैं खुद है हमारा हाथ पीड़ी और आप है जो को नहीं है तो मैंने कहें की कविता को और न जनो है जो को थाने पानी नहीं पीण डाला जोगी बोला के बाप जी ओढ़ लियो गए तो यार करारो छोड़ा तो सा गो थले मत छो बेटो जोगी और धिकार जने हाथ नो आरो अपने अच्छो आराम हो जावेला किसा मोरे लाहौरी पटियारी जंबूरो और नंबूरो दो कुत्ता है वो मारे कविता करे आपने आवेला जवाब देला वो अबदू धूड़ो मैं मैं मस्त धूड़ो क्यों बातरी परवाह नहीं उनने वो जने को दस कुत्ता धारो नहीं अठे में थल्ले माथे बैठो रो मने हुलता पिकम्बर रो कयो उन लौकी जो हुलतान पिकम्बर नहीं हो तो जरूर क्यों की मने उनिया रावे हुलतान पिकम्बर जद के हुलतान पिकम्बर तो जिमी समुद्र बादशाह हो जो उन उड़ तो बेव तो तखत और मैं भी थोड़ा रोना शराबर हो અને અભિમાનમાં આવો જીતના આવનાર કોનો કૂતો આય ગયા બેટી રે બાપ રા કૂતા દીઠાવે તો સિંહરાજનો માથા આય આવતે પણ કૂતોને રોક્યા रोके दिन वे जम्बू रे केर भाई तू श्याल है मैं कुत्ता थारे मारे खानदान रो बहरे और मन पानी पीने दी मैं तुसा हिकार आधार में मारी अलग भूख रही के नहीं मारे अदल तट मैं नहीं पीण दो तू मने हूँ आ जड़ी मने कविता कह दे लौकी की तू ही कह दी ये के कई कौन कला ख्याल ने तन तो दीठो तू छोड़ो को ने मारो नो जम्बू रे पण नहीं कविता तने कोला पानी पीण दे थारो मारा बचन कुत्ता क्या पानी पियो पानी पीर कुत्ता पाछा आया पाछा कुत्ता नाम नहीं जो केरो कोई बात है कोई बात है कि आ कविता कोई कि थला तेरे गोबर दा तू गोबर मल्ले बैठो है कन्ना पे गदरा ले दा तू असली गदर बैठो है आई रीस बेटी रे बाप रे श्याल ने क्योंकि थलो ऊंचो आई कुत्ता पहुंचा नहीं हियाल उठा कुडियो आयोडो रीस दी कुत्ता रखने पाछो कुत्ता कन आव तो एक तो आ लारे गिरदना पड़ली है और एक लारे डूंगा पड़ली अरे बेटी रे बाप रो गंगानो हरू करे उठे अरे के रे मारो होतो न पिकम रो तखत तोड़ो के तखत को तने खुद ने तोड़ोला कुत्तों उठे मुरड़ियो है मुरड़ मुड़ा उनो शिकार कर लिए और वो हयाल जी पूरा होए गया है और कुत्ता मार दियो जोगियो ने जोगी लिए आपने डेरा गया और कुत्ता जीत क्या भाई भाई